बेड़िया में गोपी चांद पावे जी चंपा देर बाई मास अब चल देने का चैड़ी को चल दे कचड़िन कमाए सोने आप पाए कचड़े जिनमें उड़ उड़ बजा काला कागर के सोने सोने पा हारो खाए रे कचड़े त्यारो बैठन हारो खाए जे आज थम उडे उड़ बजा बन का कागरे कचड़े बैठन हारो मन और धारा नगरी में पहुंची माता तो कहवा लगी माता सारा कुटम परिवार को बुलवा ले मैं मेरा फूल कंवर को ब्याह रुपये में भात नौतवा को आई हूँ तो सारा काका बाबा का निगाह में अपने गोपी चंद और चंपा दे के निगाह नहीं आ हरी माता मोको सारो कुटुंब परिवार निगाह आवे री माँ को जायो मोको सतवादी राजा दिखे नहीं तो इतनी खैबा में माता का बच्छाती भरियाई नैनन मासु भरियाई माता मैं तो ये पूछ मायू तू कैसे मुखिया को भेद बताई तू कैसे नैनन मासु लिया हरी बेटा अज्जर को ही हियो बज्जर की कर ली मैंने छाती री मैंने बछाती के जड़ लियो बज्जर ताड़ो री गोपी चंद तो मेरे जन्म ही ना ही मैं खाऊ बताऊ गोपी चंद तो मेरे जन्म ही ना के माता क्यों झूठ बोले चंद तेरे कैसे ना जन्म ना सांची सांची खेदे गोपीचंद खाओ गए तो माता ने अगर बेटी कचेड़ी में गए हो वो अभी आ जाए पर चंपा दे के कोई थावस नहीं ना तो चंपा दे तो कचेड़ी नहीं गए जार कचेड़ी ने पहुंची तो वहां कचेड़ी ने देखी तक तो काला काला काक बैठा चंपा दे ने कि गोपीचंद जब कचेड़ी में बैठ तो, तो ये बन का काला काक ने वो काई मतलब ना गोपितम तो जाना कद कोई गयो यहाँ से बिल्लाट कचड़ी ने मकर लगी कचड़ियो थारो बैठन हारो खाहेली कचड़ियो जिनमें जो उड़ उड़ काला कार बैठे तो चंपा दे कचड़ी में देख के कर बिल्लाट वापस माता के में आवे है और कैसे माता से एक बात फिर पूछे है माता ने उसको सांची सांची खेते और लोग गोपी चंद को बताना पड़ेगा तो कैसे माता गोपी चंद को भेज देव है और कैसे एक बहन सुना है

बेटाई रे बेटा गोपी चंद को दे दी यो मन जोग गोपी चंद तो पलटो तो न आयो बेटा तो मारी गोपी चंद को दे दियो जोग Lord God, be your boy, be the jogue. सखी को बेटा मैंने चलो चलो कर दिया बेटा पाट में ते सुझाए कर के पूछो रे रानी सो काई कह कह गयो रे मुकुबरे गोपी चंद का से मन की बात रे बाई समोस कछु नाय खयो जी द्वागण और अदे पर मैं छोड़ी जी गिरी पाई जे मन तन की नाय कई मत बात रे पाता वाक वासु और रिये भरत मोप तो मिलायो जबर चंपा दिन बच ने सुनाया मेरी सुन सुन रे भावज तो मैं समझा कामरे को मैं ब्यावरे माँ का जाय ये चंपा चंपाते रे बाई माता कनया ये माता साची सांचे खैद गोरख कन गयो का के गोपी चंद को फिर माता का नहीं नहरी माता साची साची कहते गोपी चंद खाको गए के बेटा गोपी चंद को तो मैंने हाथम तो जोग दिवा दियो और जोगी कर दियो जानना पीछे बग दो ना जानना मैंने गोपी चंद की कोई सूरत ना दी अरे माता तो को नेक दया ना आई री हीरा मनसो तेने कर दियो जोगी माता तू ना मरी पिस खाई री माँ को जायो तेने मेरो कर दियो जोगी माता तेरे को जोग दिवा दियो तू मर जाती तो बेटा तू जाके और गोपीचंद की पाटन दे सो और रानी से पूछ ले वहां तो कोई भेव देवे हो तो ठीक नहीं ने मोस तो तो चंपा दे पाटन दे के महल में पहुंची वहां जाए भावज से पूछी भावज को ये बात बता गोपीचंद खा लो तो गए पाटन दे रानी कहवा लगी भाई साहब मोको कोई मोसुनो ना खेगो मैं मोको कोई अंदाज नहीं जाने खा गए और खाने गए मोसु ना खेगो मन तन की बात ही ननद मैं खासू बताऊं भाई साहब मैं खा बताऊं तो ना मोसु तो वाने कोई मंथन की बात ना की मोकू तो अध पर में वो कर गयो महलन के मायरी मोकू तो अध पर में वो एक दुहाग देगी चंपा देखे बोलेगी तो भावा जी मैं जरूर जब जाऊंगी जब कंवर को ब्याह करूंगी जब माँ का जाया हेर लूंगी या प्राण तक दूंगी माँ को जाया नहीं पाया वो तो बिगड़ माँ का जाया हेर वो नहीं जाऊंगी पाटम दे रानी कह बोलेगी अब जो माँ को तो पावे जावे तो एक बार दर्शन तो वो को भी के भावा जी हेर के जाऊंगी और तो को भी दर्शन करवाऊंगी तो जाकर के चंपा देव माता का ना एक माता अब मोसू सांची सांची कह दे कौन को ने के बाबा गोरखनाथ को चेलो करियो बेटा तो सुधी बाबा गोरखनाथ कन चली जा वो बाबा गोरखनाथ तो को जरूर बता देगो गोपी चंद तो चंपा देव बांधी तो गरीब बांधी तू तो अब तो व्रत को को ले जा और मैं जब आऊंगी जब गोपी चंद पा जाए वो नहीं इतने में नहीं आऊंगी इतने ब्याह भी नहीं करूंगा तो कैसे अब गोपी चंद की बहन और गोपी चंद को एक विकटपन वन को चले है और बाबा गोरखनाथ का धोना पर जा करके पहुंचे हैं सपने हो जाएगी एक दिन सपना हो जाएगी लाल मेरा इन हाथन की मेहंदी कई दिन सपना हो जाएगी तेरा इन हाथन की मेहंदी आए दिन सपना हो जाएगी सपने हो जाएगी कमर में सपना हो जाएगी तेरा इन हाथन के मेहंदी कई दिन सपना हो जाएगी गणन रे स्वचाले अजया को सायरो नंगर वास बोल रे बाय जोगी हो गया रे बिलकत सारे नंगेरी तो छोड़े जे येरी पाए सतवा दे ले गयो पण जोग ओ जो नंगेरी सुरता कुरच गने चवे जाय रे चंपा देता बिलाप जे करे

कर माए चंपा बाई धूणा पे देखे ये बाबा रे बाबा रे मैं तो आए बन के माए रे बाबा जी तेरा पड़ो यहाँ तो काम रे बेटा कैसे बन में तू आई जे ये रे बेटा कैसे आए कजले बन कवे माए रे काहे बन में पेर खान और रे बाबा चंद रे बताओ जी इतनी भीषण का गोरख जोगी बोल मेरी सुन तो कामरे जोगे बेटा बन में भी रहता और रे बाबा जी मोको तू तो बतावे येरी बेटा यहाँ तो आयो गोपी चंद नाय रे बेटा मेरी बजे पिरान तजो धूण के माय रे धूण में तेरे मैं भी तो गिरूंगे जी मेरा धुना मैं बढ़ूंगी जे जब रे गोर के जोगी अब समझावे येरी बेटा येरी बेटा मत ना गिर के माए भगत बेटा गोपी चंद मिलाऊं तो सुन और बेटा त्योक अभी तो मिलाऊं हाँ। वेतामृता

तो भेड़ पड़ी आज चंपन माम भाई गोपी चंद देखो रग के यान बात भरी उद्योग योजना तो भाई भाई अब तक भी नहीं पकड़ो तो चंपा देने कजरी बन के बाबा गोरखनाथ की सुट लगा दी चलते चलते चंपा दे एक वृक्ष का पेड़ के नीचे कि राजान का का ही काम बन में डोलवा का थकिया आई जब बैठ के जब बिलाट करवा लग गई तो परमात्मा बहुत तने कष्ट दिया हमको और जो माँ का जाए हमको अब भी नहीं मिली तो बाबा गोरखनाथ का हृदय मान है ध्यान धर लिया और सब छोड़ा बाबा गोरखनाथ का धर दिया तो चंपा दे तो सूद ही बाबा गोरखनाथ का धोना को चली गई बाबा गोरखनाथ का धोना पे जा पहुंची तो बाबा जी की पलक लग रही बाबा जी इकला धोना पे तप रहा घड़ी तो एक बाबा जी की पलक फूटी बाबा जी ने देख ली तक तो चंपा दे गोपी चंद की बहन बाबा जी कह भाई हाँ रुक दो चंपा दे यहाँ भी आ अरे बाबा गोपी चंद तेर का नायक अरे बेटा राजान को ही काम यहाँ यहाँ तो जोगी जंगल में बाबा जी हम जंगल में तपरिया हैं राजा तो कहीं महलन में ही पाएंगा बेटा यहाँ गोपीचंद नहीं आयो मेरे कन के बाबा गोपीचंद तेरे कन आयो है और मोको गोपीचंद ने बता दे बेटा राजान का कहीं काम बाबा जी गोपी चंद बता दे नहीं तेरा धूना में प्राण तज दूंगी और तेरा धूना में मर जाऊंगी यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगी वो को तो गोपीचंद भाई बता दे गोरखनाथ जी ने सोची है चंपा दे नहीं जाएगी और जो धूना में खत्म होगी तो तेरी सारी भक्ति को और नाश कर दी बेटा बैठ जा ही मैं तू पानी पियाऊँ पानी पी ले तू सात पलक डॉक्टर को गोपी चंद जरूर मिलाऊँ फिर बाबा जी अन्न पानी तो जब खाऊंगी जब गोपीचंद का दर्शन कर लूंगी नहीं इतने अन्न पानी नहीं खाऊंगी ये मैं जब से चली जब तो मैंने ये प्रण कर लिया कि अन्न पानी तो जब ही खाऊंगी जब गोपीचंद की सूरत देख लूंगी नहीं इतना अन्न पानी नहीं खाऊंगी गोरखनाथ जी ने सोची जुलम चंपा देव वापस नहीं जाएगी और या को गोपीचंद बताना पड़ेगा तो बेटा बैठ था उसका मैं गोपीचंद तो को जरूर मिलाऊ अब गुरु जो नो कहते तो भाई गोपीचंद भरतरी यहाँ बहन आई है तो ये नहीं आवे बाबा गोरखनाथ केवल एक रे भाई गोपीचंद भरतरी दोनों चेला जल्दी जल्दी आओ रे गुरु पे बहुत तगड़ी भीड़ पड़ी और वहां इन्हें गुरु की आवाज सुने सुनते ही और मामो भरतरी दोनों गोपीचंद चंद देखे तो कोटी सुने से आज गुरु पे ऐसी तगड़ी भीड़ कहाँ पड़ रही जो गुरु इकसार पुकार रहा है और चंपा देने मामो भाण जो दोनों देखा और भगत धोना सुरपति गोपीचंद के पास भर दोनों बहन भाई रबर अब उसको मामो जो अपने दिल में वो कड़ेस करे रुको वो दोनों बहन भाई मामो खूब धीर बतावे अपने दोनों बहन भाई तो कैसे बाबा गोरखनाथ धोना पे बैठा होता है और कैसे इनको आपस में ला करके वही धोना पे बैठा हुआ है और कैसे इनको एक शांति देवे है तो बेटा तू शांति कर तो गोपी गोपीचंद मिला दियो और कैसे चंपा देव सो एक दास्तान झाका खड़े है और कैसे एक मामो भर्तरी भी हेरे बाबा हेरे बाबा रोए क्यों कंवर को मैंने ब्याह भा കൽപ്പിക്കാണ്ട് ചിലോ കരലിയോറെ ഭാഗത്തെ മേരെ കോളിയൊക്കെ ജവേറെ ഗോയറക്കെ ജോഗിന് ബച്ചാ तो पण आवे जे हेरी गेटा का का का भरिया बात गोपी चंद तो नाय ना नायर माका जायो मेरे बाबा जी काका बाबा का तो निमता का भरे है जो गोपी चंद मेरी निमता भरेगी जो काका बाबा का तो नहीं भरेगी रे गोपी चंद तो दिल में घबरावे ये रे गुरु जी कहीं रे तू मोर बहन को आज रे बाबा जी मेरे कने कोडी तक नाये तनि दिसण चंपा वैर बोले हिरे बाबा मामो भारत रे साई और रे बाबा जी मेरे तू भी तो आ जी होज पलटण जे येरी बेटा येरी बेटा बाबा जिन कन कछु रे बाबा जे काए बात भर चढ़ जाओ रे कोटी कर माय रे बहने को तो विदा का जे गोपी चंद राय जा कोटी कोटी देख आज बाबन माया जब के स्याय कोटी Hira गोपी चंद हीरा उठाया दो काचा रे रे गोपी चंद ले कर आयो जी बेटा ते जो भेण जे कौन जोग सुयरी ये बेटा जले दे जाओ यहाँ மறையாயே எரிவாயி எரிவாயி ஜே சாச்சே தோ சாச்சே খেদে অরে রে মা করে যায় তখন তো মিলয় ಭಾರ